Thank you. इति कश्चन एतद्वै तत् तदमुत्र यदमुत्र तदन्यः मृत्यो समृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्य मनसैवेदमाप्तव्यम् नेहनानास्ति किंचन स समृत्युम गति जो यो नान पश्य जहां से ज्ञान सूर्य का उदय होता है और जहां ज्ञान सूर्य का अस्त होता है वृत्ति ज्ञान का ही उदय होता है और वृत्ति ज्ञान का ही अस्त होता है तो जिस देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न अखंड एक रस अनंत ज्ञान मात्र वस्तु में से ये ईश्वर है ये जीव है ये जगत है प्रकार की वृत्तियां उदय होती हैं और जिसमें ये वृत्तियां अस्त हो जाती हैं माने इन वृत्ति वृत्ति ज्ञानों के भावाभाव का जो एक रस साक्षी है तम देवा सर्वे अर्पिता सारी इंद्रियां सारी मनोवृत्तियां सारे अधिदेव अध्यात्म अधिभूत उसी के प्रति अर्पित है उसी में अभ्यस्त है तदु नाते कश्चन उसका अतिक्रमण माने उसका निषेध कोई नहीं कर सकता ऐसा जो अपना स्वरूप भूत ज्ञान है अपना ज्ञान स्वरूप ब्रह्म है ना एक अद्वैता यही परमार्थ सत्य है अपना आत्मा ही परमार्थ सत्य है सूर्य शब्द जो है वो नेत्र के अधिदेवता के रूप से प्रकाशक ज्ञान का उपलक्षण है श्रद्धा और भाषक ज्ञान का उपलक्षण है तो सर्व से संबलित जो ज्ञान उसी का उदय होता है और उसी का अस्त होता है और जो विषय से रहित ज्ञान उसका न उदय होता है न अस्त होता है तो जिसमें ये वृत्ति ज्ञान उदय होता है और जिसमें ये वृत्ति ज्ञान अस्त होता है वो तुम वो तुम्हारा ज्ञान स्वरूप वो जीव ईश्वर जगत की कल्पना का अधिष्ठान स्वयं प्रकाश जीव जगत ईश्वर की कल्पना का प्रकाशक अद्वितीय अविनाशी परिपूर्ण सौम एक रस प्रत्यक्ष चैतन्य ये तदवई तत्व यही पर ब्रह्म परमात्मा है अब विस्तार करो तो बहुत हो जाए हैं? और नहीं तो सौ सुनार के एक लुहार का है? एक ही हथौड़े में हो खत्म काम यतोदे सूर्यो अस्तम यत्र जगछति तम देवा सर्वे अर्पिता तदुनाथेति कशन एक तत् अब परब्रह्म परमात्मा के संबंध में एक अनोखी बात बताते हैं ये उन लोगों के लिए तो समझना भी मुश्किल है जो लोग ईश्वर को दूसरे लोक में मानते हैं जो लोग ऐसा मानते हैं कि ईश्वर स्वर्ग में रहता है दिव्य राज्य है ईश्वर का वहां से वो कभी नहीं आता अपने बेटे को भले भेज दे जो लोग मानते हैं ईश्वर सातवें आसमान में रहता है, है? मूर्ति में कभी नहीं आता आकार में कभी नहीं आता ईश्वर कहाँ रहता है सातवें आसमान में उन लोगों के लिए इसको समझना कठिन है जो लोग समझते हैं ईश्वर केवल समाधि में रहता है और समाधि शब्द का उच्चारण करते समय पीठ गिरी सीधी हो जाए आंख बंद हो जाए सिर पीछे गिरते जैसे बचे है ईश्वर समाधि में रहता उन लोगों के लिए भी इसको समझना कठिन है जो कहते हैं हम गहराई में घुस करके ईश्वर को निकाल के ले आएंगे का स्वरूप क्या है उन्होंने सोचा कि ये बात सब समझ जाए सबकी समझ में आए बोले ऐसे तो नहीं समझेंगे चलो यहाँ के राजा से मिले अगर वो चाहेगा तो सब लोग समझ जाएंगे तो खुद गए राजा के पास राजा को बताया परमार्थ कैसा है निष्प्रपंच है निर्विशेष है निर्विकल्प है तो राजा ने कहा कि जो सबसे पवित्र हो सो हमको बताओ <laughs> उन्होंने कहा कि परमार्थ में पवित्र पवित्र का भेद नहीं होता तो राजा ने कहा कि तब तुम्हारा परमार्थ हमको नहीं चाहिए तो उन्होंने सोचा कि ये तो कट्ठा समझेगा नहीं तो गलती क्या है कि तो ये नहीं समझेगा जनता में प्रचार नहीं होगा गलती क्या है तो मेरे मन में जो ये वासना है कि सब लोग समझेंगे ही इसमें गलती है, है ना? लौट गए हो बोले कि सब रहने दो हमें कोई प्रचार करने की जरूरत नहीं है तो आओ परमेश्वर की बात विशेषीकरण जिसको बोलते हैं ना किसी सामान्य वस्तु को विशेष बना देना इसी में उसका उत्कर्ष समझते हैं इसी में उसकी उन्नति समझते हैं और ये जो वेदांत का ज्ञान है ये विशेषीकरण नहीं है जिसके मन में विशेषीकरण की वासना होगी कि और चीटी की अपेक्षा मच्छर की अपेक्षा मनुष्य की अपेक्षा देवता की अपेक्षा हम विशेष हो जाए हैं उनके लिए नहीं है ये तो भले हम कुछ न हो लेकिन हम जो हैं वो हमको मालूम पड़ जाए सत्य यथार्थ के ज्ञान की जिज्ञासा होनी चाहिए जो कुछ बनना चाहते हैं है ना उनके लिए ये दुर्लभ है और जो जैसे हैं वैसा अपने को जानना चाहते हैं उनके लिए ये बड़ा सुलभ है देखो सीधी सादी बात चोट करके है ना सीधी चोट अगर करना हो एक महात्मा परसों पूछ रहे के आखिर होना क्या चाहिए अभी होना जो है ना ये लगा रहता है उसका होना होना मान कृत्रिम है ना है क्या है अगर ये तुम नहीं समझते हो तो होना तो बिल्कुल कृत्रिम होगा बनावटी होगा हमने कहा भाई इतना ही होना चाहिए कि दूसरे को दुख पहुंचाए बिना स्वयं सुख में रहना चाहिए दूसरे का दुख निवारण करना ये दूसरा प्रश्न है वो है ना दूसरे को दुख निवारण करने में तो फिर हम नेता हो जाएंगे राजनीतिक नेता हो जाएंगे दुख निवारण करना नहीं उसमें तो आंदोलन उसमें तो संघर्ष दूसरे को दुख पहुंचाना नहीं और दूसरे के द्वारा पहुंचाए हुए दुख को स्वीकार करना नहीं न दुख का कर्ता हम बने न दुख का कर्ता दूसरे को बनने गए है ना असल में कर्ता कोई नहीं है ये कर्तापन जो है वो भ्रांति है न हमको कोई दुख देता है न हम किसी को दुख देते हैं जब अपने ऐसे स्वरूप को समझ जाओगे तो ये समझोगे हैं कि हम किसी को दुख देते नहीं और हमको दुख होता नहीं न हम दुख के करता है और न दुख जो भोगता है सीधा सादा जीवन और इसमें ये नहीं है कि हमारी दुकान पर जाए ये बात इसमें बिल्कुल नहीं है अब की मंत्री थे तो अब की कैबिनेट स्तर के मंत्री हो जाए ये बात इसमें नहीं है तो ये तो बात ये है कि जैसे यहाँ वैसे ही वहाँ तदम तदमुत्र सनत कुमार से पार्वती जी ने पूछा कि क्यों ये ऊट होना कैसा लगता है तुमको ऊँट हो गए थे ना ऊँट एक बार शंकर जी को प्रणाम नहीं किया सनत कुमार ने तो पार्वती जी ने कहा क्या मुंह उठाया जा रहा है क्या ऊट हो जा ऊट तो हो गए ऊट हो गए तो एक दिन बहुत दिनों के बाद पार्वती जी को याद आई तो बोली शंकर जी से कि चलो जरा देखा क्या हाल चाल है एक नीम के पेड़ के नीचे बैठ के और मस्ती में तो शंकर पार्वती दोनों आए कहो बेटा क्या समाचार है तो सनत कुमार जी बोले कि जब मनुष्य था तब तो आपदस्त लेना पड़ता था लोगों के घर से रोटी मांग के खानी पड़ती थी अब तो बस खड़े खड़े हग लेते हैं और खड़े खड़े नीम की पत्ती खा लेते हैं है ना वो दोनों जो हमारे साथ हिल्लत लगी हुई तो छूट गई बड़ी कृपा की महाराज है ना जैसे हम ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार के रूप में जैसे मजे में थे है ना वैसे अब उमा कुमार रूप के रूप में मजे में मैं हैं हम तो उमा कुमार हैं जदे वे कदमुत्र देखो साधु का जीवन है ना साधु का तो दो चार दस भगत आ गए चंदन अंदन लगाया माला पहनाई और बैठ गए महामंडलेश्वर हाँ और लोगों ने कहा कि हाँ। काम कामाय मह्यम कामेश्वरो दधा दो हाथ लिया मंडलेश्वर जी की स्तुति हुई बोले वाह वाह वाह देखो हमारे कितने भगत हैं हम तो महामंडलेश्वर खुश हो गए तो एक दिन महाराज ऐसी बात आई कि सब के सब चले गए कोई नहीं आया आना बंद हो गया बोले बाबा जी महाराज ये काम कर रहे थे कैसा का आज तो हम बिल्कुल विरक्त हैं एकदम त्यागी दुनिया की सारी इल्लत छूट गई तो जब पूजा करवाई तो मंडलेश्वर है और जब भक्तों का आना बंद हो गया तो ब्रह्म अब भाई मंडलेश्वर जी अगर ऐसे न हो तो उनका दोष है तो जब ये जबे हुए हो तब मत करो जो राग में है वही वैराग्य में है जो संग्रह में है वही त्याग में है जो विक्षेप में है वही समाधि में है जो रोदन में है वही हास्य में है जो जन्म में है वही मरण में है ये एक रस रम ब्रह्म यदे यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्वेह मृत्यु समृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति ये जो अंगूर के रूप में दिखता है और इमली के रूप में दिखता है और काली मिर्च के रूप में दिखता है और लाल मिर्च के रूप में दिखता है ये देखो संस्कार के कारण सबका स्वाद जुदा जुदा है सबका गुण जुदा जुदा है, सबकी शकल जुदा जुदा है नाम अलग रूप अलग गुण अलग धर्म अलग अवस्था अलग उपयोग अलग लेकिन है सब पंचभूत की नहीं है तो सब पंचभूत ही ना ये सब पंचभूत का ही विलास है आ, हाँ, ये स्त्री है इसके शरीर का संस्थान अन्य रीति से है और ये पुरुष है इसके शरीर का संस्थान और दुनिया अन्य रीति से है एक में दाढ़ी मूछ है एक में नहीं है लेकिन दोनों पंचभूत के पुतले हैं कि नहीं है दोनों में आत्मदेव एक ही है कि दो है दोनों में ईश्वर एक ही है कि दो है तो तत्व पर दृष्टि होना धातु पर दृष्टि होना ये दूसरी वस्तु है ब्रह्मा से लेकर के कर्ण पर्यंत उपाधि के भेद से भिन्न प्रतीयमान जो सर्वात्मक ब्रह्म है ना इसमें भिन्नता असद है तो भाई उपाधि से अवच्छिन्न जो चैतन्य है वो संसारी जीव है और उपाधि से अनवच्छिन्न जो चैतन्य है वो ब्रह्म है ये संसारी है वो असंसारी है बोले बाबा उपाधि के धर्म को जोड़ करके तुम ही क्यों करते हो उपाधि का रंग क्यों स्फटिक जो ये ये स्फटिक लाल है और ये स्फटिक हरा है और ये स्फटिक का पीला है बोले स्फटिक तो सफेद ही है न हरा है न पीला है न लाल है बोले जिस जैसे फूल पर रखा हुआ है ऐसा लग रहा है बोले फूलों के रंग को तुम स्फटिक में क्यों जोड़ते हो स्फटिक को स्वच्छ रूप में देखो ना तो ये जो अंतकरण है ये फूलों के समान है और चैतन्य जो है वो स्फटिक के समान है तब तक अंतकरण जो है ना उनके धर्म उनके गुण उनकी अवस्था उनके स्वभाव इनको आत्मा के साथ क्यों जोड़ते हो तो नित्य शुद्ध मत ये आत्मा का ये आत्मा का स्वभाव है ये आत्मा का स्वरूप है तो बोले भाई कोई ये न समझ ले की उपाधि में जो ब्रह्म है सो छोटा ब्रह्म और गया उपाधि का जो ब्रह्म है सो बड़ा ब्रह्म इसलिए बताया यदे वेह तदमुत्र जो यहाँ है यत एव इह तत एव अमुत्रा यक एव इह जवेह यक एव इह जो वस्तु यहाँ है तदेव अमुत्र वही वहाँ है और यक अमुत्र तत् इह जो वहाँ है वही यहाँ है तो कार्य और करण की उपाधि से समन्वित ये कारण और करण दोनों प्रकार का पाठ है परंतु वर्णन व्यवहार का हो रहा है इसलिए इसमें कारणोपाधि नहीं करणोपाधि बढ़िया बनती है पांच छह प्रतियों में करणोपाधि पाठ मिलता है और पांच छह प्रतियों में कारणोपाधि पाठ मिलता है तो, तो फिर विचार करना चाहिए कि हाँ क्या बात ठीक है तो बोले कि कार्य करण उपाधि यह यह है ना यह ये हमारे व्यवहार में संसार में कार्य की उपाधि माने शरीर की उपाधि और करण की उपाधि माने अंतकरण बहिष्करण की उपाधि अंतकरण की उपाधि इनके कारण संसार धर्मवत अवभासमान शरीर में मालूम पड़ता है जन्म और मरण और प्राण को लगती है भूख और प्यास है? भूख प्यास प्राण का दर्द और संकल्प विकल्प मन में होता है और तर्क वितर्क विचार विवेक है ये सब बुद्धि में होता है शांति जो है वो इन सबके शांत हो जाने पर होती है आनंदमय बोले ये सब कोष हैं उपाधि हैं बोला कोशोपाधि विवक्षायाम जाति ब्रह्म जीवता जहाँ कोश की दृष्टि से वर्णन करते हैं वहाँ ब्रह्म का ही एक नाम जीव रख देते हैं और जहाँ कार्य करण की उपाधि जो है हाँ, उसको छोड़ करके विचार करते हैं हाँ। देखो असल में निर्विशेष में विवेक भी नहीं है विवेक तो जहाँ दो होता है वही होता है हाँ। विवेक भी उपाधि है <clears throat> शांति प्रेमी पुरुष को विवेक भी विक्षेप मालूम पड़ता है और विवेकी पुरुष को शांति भी सुसुप्ति मालूम पड़ती है विवेकी पुरुष की दृष्टि में समाधि और सुसुप्ति में कोई अंतर नहीं है वो तो लौकिक दृष्टि से अंतर किया जाता है कि ये तामस है ये राजस है जहाँ आत्मानात्म विवेक करेंगे वैसे जैसे अनात्म कोटि में सुसुप्ति है दृश्य कोटि में वैसे ही अनात्म कोटि में दृश्य कोटि में समाधि भी है तो विवेकी पुरुष के लिए भी समाधि और समाधि भी सुझुक्ति है और समाधिस्थ पुरुष के लिए विवेक भी विक्षेप है इसका अर्थ हुआ कि आत्म वस्तु में समाधि और विवेक दोनों निम्न कोटि की वस्तु हैं विक्षेप दशा में विवेक है, है? और शांति दशा में समाधि है और आत्मा तो अखंड है एक रस है तो ये विक्षेप और समाधि बिल्कुल न्यारा दोनों से न्यारा तो जो इनमें स्थित है कार्य कारण उपाधि में स्थित होकर के संसार धर्मवत जन्म मरण वाला भूखा प्यासा संकल्प विकल्प वाला तर्क वितर्क वाला शांति विक्षेप वाला जो अंतकरण में रह करके भाग रहा है अभिवेकियों के लिए जिसकी संज्ञा जीव है वही उसके स्वरूप की दृष्टि से देखो तो नित्य विज्ञान घन स्वभाव संसार धर्म वर्जित ब्रह्म है न जन्म है न मृत्यु और तो जब तुम देह मानते हो ना तब तो। ये जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना तो उनके सामने उनकी माँ को घूसा पालो कि मारेंगे तुमको तो माँ तो हंसती है और बच्चा रोता है कि क्यों रोता है तो उसको विवेक नहीं है है ना तो जो बचपने में आ गया है वही शरीर के जन्म मरण को अपना जन्म मरण मान करके और इससे भयभीत होता है ये अविवेक दशा है भूख और प्यास और ये तर्क वितर्क मारा लोग जिसको तर्क से प्रेम हो जाता है ना शिष्य था और अपने गुरु जी के पास गया तो गुरु जी ने पहले तो उसको उपदेश किया कि तुम ब्रह्म हो हमारा है ब्रह्म है अरे हमने बिना सोचे ही बिचारे को अपने को जीव मान रखा था कहा जीव देखा था जीव का फोटो कहाँ लिया था कि हम करता है कि भोगता है कि संसारी है कि परिच्छिन्न है कि हम स्वर्ग नरक में जाने आने वाले हैं कि पुनर्जन्म वाले हैं ये सब फोटो हमने कहा लिया था है ना हमने तो किसी के कहने से मान लिया था है ना ठीक है हम तो अनंत आकाश है चिदाकाश है अद्वितीय है रमाल सच्चरा आनंद गान ब्रह्म अच्छा महाराज नमस्कार मैं जाता हूँ तो गुरु जी बोले कि इतनी जल्दी जाता है अरे ठहर भाई बोले कि महाराज सच्चिदानंद घन ब्रह्म मैं में तो गति नहीं जाना आना तो है ही नहीं में है ना तो अच्छा जाना आना नहीं है थोड़ा विवेक तो कर बोले मेरे स्वरूप में विवेक कहाँ है कहने लोग जान गया अपने को ब्रह्म काम को विशेष क्यों बनाते हो हम तो निर्विशेष ब्रह्म है ऐसे जा बेटा साधु साधु साधु तो ये तो बेवकूफी से काम बहुत बढ़ जाता है लंबा हो जाता है समझदारी से जो काम मिनटों में खत्म हो जाता है ना कोई गांठ आपको खोलनी हो कभी उलझी हुई सुलझानी हो और उसको समझ लो ना तो एक सेकंड में सुलझ जाए और न समझो तो वो ऐसी उलझ जाएगी कि दूसरे से भी नहीं खुलेगी हाँ, ये तो समझ गई समझ गई फिर है वह चेतना ग्रंथ पड़ गई अरे सच्ची कहना यदि तो मृषा झूठी लो अब झूठी गांठ खोलने के लिए इधर से उधर इधर से उधर सूत को उलझाओ और उलझ जाए अरे तो रोशनी में देख लो कि गांठे ही नहीं है हाँ, एक बार हम लोग कहीं से आ रहे हम समझते हैं कि गए थे सूख टीला तो गंगा जी जरा दूर थी और बीच में पानी बहुत था तो सवारी पर चलना पड़ा बैलगाड़ी पर बैठ गए बीच में पानी पार करना पड़ता था बालू है उसका तो उस पर एक जादूगर आके बैठ गया हो हमारे और उसने लेके वो गांठ लगाई इतनी लंबी रस्सी में गांठ ही गांठ गांठ ही गांठ गांठ ही गांठ रहने गांठ कहा है अब वो महाराज एक ओर से उसने जो खींचा सो कोई गांठ ही नहीं थी है ना और तो बिल्कुल एकदम गांठ नहीं थी गांठ मालूम पड़ते थे ये जो हम लोग रोशनी शीशे में पड़ती है ना शीशे में रोशनी पड़ती है तो जो कोई समझता हो कि शीशे में रोशनी फंस गई है वो बेवकूफ है कि नहीं अरे समझो ये बल्ब जल रहे हैं ना ये लंबे लंबे बल्ब हमारे सामने जो अलमारी है उसमें हमको दिख रहे हैं आप लोगों को सबको नहीं दिखेंगे है ना हमको यहाँ से जो सामने शीशा है अलमारी का उसमें ये बल्ब बिल्कुल ज्यो का हो इतना ही लंबा दिखाई पड़ रहा है अब अगर हम ये समझते हो कि ये लंबा बल्ब उस शीशे में जाके अटक गया है या उस अलमारी में बंद है तो हमारी बेवकूफी होगी ना है? इसी प्रकार जो परिपूर्ण चैतन्य है ब्रह्म है वो अंतकरण के शीशे में आके बंध गया है और वहाँ अंतकरण के दुख से दुखी अंतकरण के सुख से सुखी अंतकरण के कर्म से पापी कोई आत्मा अंतकरण के गमनागमन से गमनागमन वाला हो रहा है तो जैसे उस बल्ब को हम उस शीशे के हटाने से चलने वाला मानते हैं या उस आलमारी के भीतर कैद मानते हैं या वहाँ स्थित मानते हैं बना हुआ मानते हैं तो जैसे अज्ञान है इसी प्रकार ब्रह्म चैतन्य को आत्म चैतन्य को शुद्ध चैतन्य को एक शरीर के भीतर मान करके है ना पापी आत्मा सुखी दुखी है ना जन्म वाला मृत्यु वाला ये मानना ये चैतन्य के स्वरूप का अज्ञान है तो <laughs> जदेवी हो तद तो उपनिष ये विज्ञान स्वभाव है और जो वहाँ है जिसको वहाँ से मतलब वहाँ का मतलब भी समझो आंख बंद करके वहाँ नहीं बोला खुली आंख से यहाँ और वहाँ ये दोनों दो जगह नहीं होती है तो देह की दृष्टि से जब देखते हैं तब स्थान तो हो जाते हैं मन में कल्पना ही होती है यहाँ और वहाँ मन की कल्पना का दो रूप है यह की विशेषता से विशिष्ट जो कल्पना है उसको यहाँ बोलते हैं और वह की कल्पना से विशिष्ट है ना हाँ वह की कल्पना से विशिष्ट जो वृत्ति है उसको वहाँ बोलते हैं यहाँ और वहाँ दोनों मन की कल्पना है तो ऐसा समझो कि संसार के धर्म का आरोप करके जो प्रकाश स्वरूप ज्ञान स्वरूप है वही संसार की कल्पना से मुक्त होने पर भी ज्यो का क्यों है और संसार दोहरा के बोलते हैं संसार की कल्पना से मुक्त जो है वही संसार की कल्पना में भी है जो नाम रूप कार्यकरण की उपाधि से रहित है वही नाम रूप कार्यकरण की उपाधि में भी है तो ये जो अविद्या से मोहित हो करके अविद्या क्या है तो अविद्या ये है कि एक तो दृष्टि के स्वभाव को न समझना और एक उपाधि के स्वभाव को न समझना दो दो भेद कर लो उपाधि स्वभाव दृष्टि भेद लक्षण या अविद्या उपाधि स्वभाव भेद दृष्टि लक्षणया अविद्या मोहिता नारायण क्या हुआ एक तो ये न समझना कि वो जो सामने वाला शीशा है ना उस बल्ब की के प्रतिबिंब को ग्रहण कर लेता है तो शीशे के इस स्वभाव को न समझना और ये जो बल्ब में चमक है ये अन्यत्र प्रतिबिंबित होती है ये बल्ब के स्वभाव को न समझना बल्ब के स्वभाव को न समझना और शीशे के स्वभाव को न समझना है? और अपनी आंख के स्वभाव को न समझना नारायण अपनी आंख के स्वभाव को न समझना ये अविद्या माने कोई ऐसा नहीं समझना कि सातवें आसमान से टूट पड़ती है अविद्या हमने अविद्या देखी हाँ। तो हम पहले पहल हरिद्वार गए थे ऋषिकेश तो अविद्या का दर्शन भी वही हुआ बोला गंगा जी के किनारे मद्रास के कुछ लोग आए हुए थे उस वसु शेषधारा क्या बोलते हैं वो जो ऋषिकेश के आगे जहाँ चंद्रभागा नदी जहाँ मिलती है वो शेषधारा वसुधारा हाँ, मायाकुंड के पास वसुधारा बोलते तो वहाँ ला के मद्रासियों को गंगा में स्नान कराया पल्लो ने बोले कि यहाँ एक देवता रहता है सामने वाले पहाड़ में गंगा के उस पार एक देवता रहता है तो उससे अगर हम पूछे कि तुम क्या खाओगे तो बता देता है ना और महाराज वो बड़े जोर से चिल्लाए कि लड्डू लोगे कि पेड़ा है ना और सामने तो पहाड़ था ना तो आवाज आई पीड़ा बिल्कुल साफ साफ आवाज आई अब वो मद्रासी ने पेड़े हाँ, का बंदोबस्त क्या खरीद के भोग लगाया देखो देवता पेड़ा मांगता है तो दूसरे से कहा कि देखो तुम्हारे लिए पूछते हैं कि देवता को क्या चाहिए तो बोला पेड़ा लोगे कि लड्डू है ना तो हम लड्डू लड्डू आवाज आएगी जो अखीर में बोले सोई आवाज आती थी हाँ ये अहमदाबाद में जो है ना वो कांकरिया तालाब उसमें भी शाम को ले जाके हमको सुनाया वहां भी प्रसन्न ध्वनि आती है वहाँ भी आती है तो ये अब वो जो भूत की आवाज सुनाई पड़ी उनको देवता की जो आवाज सुनाई पड़ी वो क्या है है ना अविद्या है ना इसी का नाम अविद्या है अविद्या माने किसी चीज को ठीक ठीक न समझ पाना ये चमत्कार होता है ना चमत्कार ये चमत्कार क्या है है ना एक साधु है वो सेकरीन बाजार में से खरीद लेता है और अपने भभूत में राख में मिला के रखता है, है? और बेटा कुछ खाओ पियोगे तो महाराज यहाँ क्या मिलेगा जंगल में राख है क्या खाए क्या पिए कैसा पानी ले आओ एक लोटा एक लोटा पानी ले आया और राख में से महाराज जहाँ टेकरी ने है ना वहाँ से उठा के और दिया लो भभूत डाल लो है ना अब वो भभूत महाराज पानी में मिलाई गई तो शरबत हो गया बोले अरे देखो बाबा जी ने चमत्कार कर दिया तो अभी ये, ये चमत्कार कहाँ से हुआ था अविद्या से हुआ बल्कि क्योंकि उसको मालूम नहीं है कि इस रात में सिक्रीन मिला हुआ है तो जो लोग जिस बात को नहीं समझते हैं उनको उसमें चमत्कार दिखता है ये बिल्कुल सहज स्वभाव से बिना किसी बनावट के पर ब्रह्म परमात्मा है यदि हो तदमुत्र यदमुत्र तदनीय जब हम अपने में महत्व का आरोप करते हैं तब भी अविद्या से ग्रस्त होते हैं और जब दूसरे में महत्व का आरोप करते हैं तब भी अविद्या से ग्रस्त होते हैं हाँ। निर्विशेष वस्तु में महत्व और लघुत्व दोनों नहीं है जब हम अपने में लघुत्व का आरोप करते हैं तब भी अविद्या से करते हैं और दूसरे में लघुत्व का आरोप करते हैं तब भी अविद्या से करते हैं और अपने में महत्व का या दूसरे में महत्व का आरोप करते हैं तब भी अविद्या से करते हैं मूल वस्तु मूल तत्व को न समझने के कारण ही ऐसा होता है तो क्या सुनाया आपको अविद्या का लक्षण उपाधि स्वभाव भेद दृष्टि लक्षण या उपाधन उपाधि स्वभाव भेद दृष्टिया च से जा सा उपाधि स्वभाव भेद लक्षण तया अविद्या अथवा उपाधि स्वभाव और भेद दृष्टि है लक्षण जिसके बोला ऐसे गोविंद कि जिससे ये दिखाई पड़ता है तो उपाधि के स्वभाव को ठीक समझो और दृष्टि जो है ना उपाधि को पार करके जो ज्ञान उपाधि में से हो करके जो ज्ञान निकलता है वही भेद को बताता है तो मृत्यु समृत्यमापनोती यो इह नानेव पश्यति जो इह नाना इव पश्यति अनानात्मके नाना इव पश्यति वस्तु तो न पश्यति पश्यति इव ये यू का अन्वय पश्यति के साथ कर दो जो इह अनानात्मके वस्तुनी नाना पश्यती इव जो एक अद्वितीय अखंड वस्तु में काल में कहीं अवयव होता है ये क्षण सेकेंड सेकेंड मिनट घट और जब सच्चे मालूम पड़ते हैं तो हम देह में बैठे होते हैं देह में बैठे होते हैं तो जन्म मृत्यु हमारे पास आता है कि जब तुम परिच्छिन्न बन के बैठे जब तुमने अपने आप को ही काल में खुद काट दिया तो लो हम और दो चार कुल्हाड़े लगाते हैं तुम्हारे ऊपर जब तुमने अपने को देश में खुद ही काट दिया तो हम और आरी चलाते हैं है? जब तुमने वस्तु में अपने को एक टुकड़ा माने लिया हाँ, गांव में एक खेत था एक परिवार में तो दादा के जमाने में चार एकड़ का एक खेत था बोला उनके हुए दो बेटे तो दो दो एकड़ दोनों ने बांट लिया है? अब उन दोनों के हुए चार चार बेटे है ना अब महाराज आधा आधा एकड़ सबके पास है ऐसे तो ये अविद्या से ग्रस्त ये बंटवारा जो है ना ये बंटवारा ये बंटवारा क्या करता है ये चार एकड़ को आधे एकड़ पर ले आया ना तो जब हम खुद ही बांट के बैठ जाते हैं कि हम ये शरीर तब काल डंडा लेके एक और खड़ा होता है कि तुम्हारी उम्र पचास वर्ष देश एक और डंडा लेके खड़ा होता है तुम्हारी लंबाई साढ़े तीन आठ है ना वस्तु एक और डंडा तराजू लेके खड़ी होती है तोलने को है ना आ, तुम डेढ़ मन ये डेढ़ मन कैसे हो गए वस्तु के परिच्छेद से ये साढ़े तीन हाथ कैसे हो गए देश के परिच्छेद से है ना ये पचास सौ वर्ष के कैसे हो गए काल के परिच्छेद से और ये तो अखंड सत्ता में है अविनाशी सत्ता में काल नहीं परिपूर्ण सत्ता में देश नहीं अद्वितीय ब्रह्म में वस्तु का अभेद नहीं तुमने अपने अबाध्यमय को अकाठ्यमय को इस परिच्छिन्नतया प्रतीयमान वस्तुओं के साथ एक जोड़ करके अपने आप को परिच्छिन्न बना दिया वेदांति लोग ¡Gracias!